哦，你好。 दुबई तो तत्व हंस सुखी सब वसुरंतरिक्ष सब होता वेदी सब अतिथिर गुरुओं सब मृषद वरसद ऋतसद व्योम सद अब्जा भोजा ऋतजा अद्रजा ऋतम बृहद बातों वाला नगर है और उसमें एक अजन्मा रहता है तो अजन्मा कहने से पूर्व की अपेक्षा विलक्षण बताया इसका अर्थ है कि पूर्व का तो जन्म होता है परंतु इसके मालिक का जन्म नहीं होता है तो इससे ये भी निकला कि कर्म और कर्म का जो प्रभाव है और कर्म की जो प्रतिक्रिया है कर्म का जो फलभेद है वो शरीर में ही होता है अजन्मा में नहीं होता है जब तक शरीर को मैं समझो तब तक तुम पापी हो पुण्यात्मा हो और उसकी क्रिया प्रतिक्रिया सुख और दुख के भोगता हो और जहाँ अज अज माने जन्मवादा शरीर जन्मवादा जो शरीर उससे अलग अपने को जाना अजस्य वहां मुक्त हुए तो ये प्रश्न हुआ कि जीवात्मा को जान करके तो कोई मुक्त नहीं होता परमात्मा को जान करके मुक्त होता है जीव के ज्ञान से जो परिच्छिन्न है उसके ज्ञान से किसी की मुक्ति नहीं होते जीव तो लाखों हैं जीव तो हजारों हैं वेदाहमृतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमस परस्तात समेव की मृत्यु में भी नान्य संख्या विद्यते यनाय वेदानमेतम पुरुषम महांतम अहम एतम पुरुषम महानतम वेद मैं इस शरीर में रहने वाले पुरुष को महान के रूप में जानता हूँ ये शरीर के जन्म मरण से और शरीर की लंबाई चौड़ाई से और शरीर के वजन से ये आत्मा छोटा नहीं है अहम एतम पुरुषम महानतम वेद वेदा हम एतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम स्वयं प्रकाशम तमस करता अविद्याया करता इस आत्मा में न जन्म है न मरण है न ज्ञातापना है न अज्ञातापना है न सुखीपना है न दुखीपना है ऐसे महान पुरुष को हमने जान लिया वो कैसा है स्वयं प्रकाश है और अविद्या से परे तमेव विदित्वा तमेव विदित्वा अति मृत्युम के दी तमेव विदित्वा मृत्यु अस्येति उसको जानकर ही मृत्यु से बच सकते हो तो परमात्मा को जानकर मृत्यु से बच सकते हो तो बोले अच्छा ऐसी बात है तो इसमें अजस्य आत्मना अवक्र चेतक तो परमात्मन इसका ऐसा और दोनों ष्ठी के एक वचन में प्रवृत्त हुए हैं इसलिए वेदांत की रीति से इसको सामानाधिकरण बोलते हैं एक विभक्ति दो पद का प्रयोग होना सामानाधिकरण है कि जो अज है सो अवक्र चेता परमात्मा है और जो अवक्र चेता परमात्मा है सो यजन्मा है और एकादश दरवाजे वाले पुरी से ये पृथक है तो आत्मा परमात्मा की एकता तो, तो पूरी क्या हुई ये एक विलक्षण बात है तो एक होता है विवेक और एक होता है अनुभव अनुभव ज्ञान तो विवेक दशा में ये बात कही जाती है कि ये जो दृश्य है जड़ है परमात्मा इससे न्यारा है कार्य कारण विवेक होता है ना तो कार्य है प्रपंच इसकी कारण अवस्था जो बीजात्मक सत्ता है, है उस बीज से उपहित जो है सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान अंतर्यामी परमात्मा है तो दृश्य से बीज से जड़ता से अज्ञान से दुख से न्यारे है परमात्मा तो बोले कि अच्छा न्यारे न्यारे न्यारे है तो बहुत परोक्ष है फिर तो बोले कि नहीं जो अपरोक्ष तुम्हारी आत्मा इस शरीर में जो सबसे भीतर अपरोक्ष तुम्हारी आत्मा है संपूर्ण जगत के भीतर वही परोक्ष परमात्मा है तो महादास कहता है कि जगत में जिसको तुमने परोक्ष रूप से निश्चय किया और अपने में जिसको अपरोक्ष रूप से निश्चय किया ये दोनों एक हैं ये तो श्रुति के बदलाने का अभिप्राय यही है कि कारण की उपाधि से जिस सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान अंतर्यामी को तुमने परोक्ष रूप से निश्चय किया और अपने आप को अपरोक्ष रूप से जाना ये घड़े की दीवार के भीतर जो आकाश है वही घड़े की दीवार के बाहर है और वही मकान के दीवार के भीतर है और वही मकान के दीवार के बाहर है तो वैसे इस शरीर के भीतर जो हमर्थ है सारे प्रपंच के भीतर भी वही अमर्थ है, हैं? और सारे प्रपंच के बाहर वही परिपूर्ण है रास्ता तो एक प्रपंच हुआ शरीर सहित प्रपंच एक राशि में तृतीय राशि में और दृष्टा आत्मा जो है वो एक राशि में परमात्मा बोले अब तो ज्ञान हो गया हाँ, बोले हाँ अभी द्वैत का ही ज्ञान हुआ अभी अद्वैत का ज्ञान नहीं हुआ अद्वैत का ज्ञान क्या है तो ब्रह्मसूत्र में इसका विवेचन किया हो तदनन्यत्वम आरंभण शब्दा अन्य तदनन्याधिकरण इसको बोलते हैं ब्रह्मसूत्र में वेदांत दर्शन में इसका नाम है तदनन्याधिकरण सदनन्यम आरंभन शब्दादिभ्य ये सूत्र है ये जिसको तुम दृश्य कहते हो जिससे भिन्न जिसका दृष्टा चेतन है परमात्मा से माने दृश्य जगत से भिन्न जो परमात्मा उससे भिन्न ये जगत नहीं है ये निरूपण की शैली ऐसी है बोले तस्मात नहीं आत्मनो यस्मात अन्य भावो निरूपिता तस्माद अन्यस्मात आत्मन अन्यस्मात विदित दृश्य पृथक भूता आत्मन अन्य भाव न विद्यते संपूर्ण दृश्य से विलक्षण रूप से जाना हुआ जो परमात्मा उससे भिन्न ये जगत नहीं है कहीं तस्मात नई आत्मनोन्यस्मात अन्यो भावो निरूपित अन्यस्माद आत्मना आत्मा तो प्रपंच से अन्य है परंतु आत्मा से अन्य प्रपंच नहीं है तो जो लोग थोड़ी देर तक तो दुनिया से अलग हो करके शांति में बैठे और तृप्ति हो गई तो सब दुख छूट गए पाप छूट गए पुण्य छूट गया दुख छूट गया संसार का सुख छूट गया रिश्ते नाते छूट गए और फिर जब व्यवहार में आए तब सब तो बोले सब सुख जुड़ गए सब दुख जुड़ गए सब रिश्ते जुड़ गए सब संबंधी जुड़ गए फिर रोने लग गए ये क्या तमाशा है ना ये क्या तमाशा बचा रखा है तो बोले दिन जो थोड़ी देर तक अलग हुए ना उस अलगाव का नशा रहेगा तो व्यवहार में काम देगा वृद्धि सारूपियम इतरत्र आ करके तुम वृत्ति सारूप्य का फिर अनुभव करोगे बोले नहीं नहीं जब एक बार तुम अपने को वृत्ति से अलग करके परमात्मा से एक अपने आप को जान लोगे तो परमात्मा रूप स्वयं प्रकाश अधिष्ठान में ये प्रपंच जो है ये पृथक नहीं रहेगा परमात्मा से एक हो जाएगा तदन अन्यत्व परमात्मा से अन्य ये प्रपंच नहीं रहेगा क्यों आरंभण शब्दादि क्योंकि श्रुति आरंभण शब्द का प्रयोग करती है आरंभण शब्दादि का प्रयोग है ये क्या है कहिए जैसे आप श्रुति सुनते हैं ना मृत्यु के देव सत्यम वाली वाचारंभणम विकारो नामधेयम वृद्धि के देव सत्यम इसी प्रकार वाचारंभणम रूपम नाम इति नामधेयम अग्निवृत्तेव सत्यम आज वाचारम्भम जल विवादी इनाम भेयम जल वित्तीय सत्या वाचारम्भम प्राणादि नाम भेयम वायु वित्तीय सत्या वाचारम्भम घटाकाशादि नाम भेयम महाकाश इतव सत्याम ये घट तट मठ आदि जो नाम हैं ये तो मिट्टी के हैं असल में मिट्टी सच्ची है और घट तट मठ आदि सच्चे नहीं हैं तार्किकों ने कहा कि घड़ा भी सच्चा मिट्टी भी सच्ची तो वेदांतियों ने कहा कि हमारी मिट्टी हमें वापस करो और घड़ा को अपने पास रख लो दो सच्चे हो जाएंगे है? है सत्य कि मिट्टी वापस कर दी जाए और भरा जो है वो अपने पास रह जाए ये सत्य नहीं है इसका अर्थ है कि मिट्टी से न्यारा घड़ा नहीं है जल से न्यारा बिलगुद आदि नहीं है अग्नि से न्यारा ये रूप आदि जो है ये नहीं है चिंगारी आदि स्फुलिंग आदि जो है ये अग्नि से न्यारे नहीं है वायु से न्यारे ये प्राण आदि नहीं है और महाकाश से न्यारे घटा का शादी नहीं है मन से न्यारा सपना नहीं है ये सब परमात्मा की एक ही परमात्मा की लीला है तो अनुष्ठायन सूचती विमुक्त विमुच्यते अब ये बात हुई जो देह का राजा है वही संपूर्ण सृष्टि का राजा है और वो न करता है और न सोचता है न परिच्छिन्न है न संसारी है तो अनुष्ठाय जरा इसके अनुष्ठान में लगो ये अनुष्ठाय अनुष्ठाय क्या है बोले शरीर के पीछे खड़े हो जाते अनुपश्चात स्थित्वा अनु जब अलग रहेगा और तब स्थित्वा रहेगा और अनु और स्थित्वा जब दोनों का समास हो जाएगा तब अनुष्ठाय हो जाएगा ये व्याकरण का नियम है कि बिना समास के जब क्रिया प्रत्यय होता है तब तो क्रिया रहता है और जब समास में क्रिया प्रत्यय होता है तब वो य हो जाता है अनुष्ठाय खा के चुवा प्रत्यय किया तो स्थित्वा होगा लेकिन जब अनु उसके साथ जुड़ गया तो अनु स्थित्वा नहीं रहेगा त्वा का यह हो जाएगा अनुष्ठाय हो जाएगा अनुष्ठाय न सूचती तो एक ऐसा अनुष्ठान बताते हैं तुमको जिससे शोक की निवृत्ति हो जाए शोक की निवृत्ति क्योंकि आप जानते ही हो कि शोक कौन करता है अशोचानंद अशोचस्वम के भाष से गतासु अगत अगतासु नानु सूचंती पंडिता तुम्हारी सारी प्रज्ञा सारी सारी विद्या सारी बुद्धि का फल ये है कि तुम अपने को शोक से बचा सको यदि दुख से बचाने की विद्या तुमको नहीं आई बल्कि दिन भर में सत्रह बसे शोक में डालने की विद्या तुमने सीखी तो क्या सीखा महाभारत में भारत सावित्री जिसको बोलते हैं ना भारत सावित्री भारत सावित्री माने महाभारत की गायत्री सावित्री माने गायत्री जैसे वेद में गायत्री है वैसे महाभारत में एक सावित्री है भारत सावित्री बोलते हैं उसको तो वो कहते हैं कि श्वेत स्थान सहस्त्राणी भयस्थान सतान च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति न पंडिता दिन भर में हजार बार दुखी होना हजार बार डर जाना ये आशंका है ये आतंक है हाँ, ये भय है ये जो दीनता तुम्हारे चित्त पर प्रभाव है हाँ, तो तो ये किसका लक्षण है तो ये तुम्हारी मूढ़ता का लक्षण है देह में और देह के संबंधियों में अत्यंत मोहग्रस्त हो जाने के कारण मूढ़ माने मूढ़ माने मोहग्रस्त हो मोहग्रस्त मोह वैचित्य धातु से उसी धातु से निर्जती इसी मूढ़ा जो मोहग्रस्त होता है ये छूटने न पावे ये आने न पावे ये जाने न पावे है ना सत्य का ध्यान नहीं धर्म का ध्यान नहीं आत्मा का ध्यान नहीं परमात्मा का ध्यान नहीं है मोह के सामने जो चीज है वो तो दिखती है परंतु मोह किसको हो रहा है ये नहीं मालूम पड़ता है और मोह में परमात्मा छूट गया है ये बात मालूम नहीं पड़ती है तो दिन भर में हजार बार श्रेष्ठ और हजार बार भय आते हैं और पत्र के मोहा बस्तों कहा एकत्र बस्य कहा जिसने देख लिया हर हालत में एक ही है हर हालत में और हालत में एक ही है वो दृष्टांत आपने सुना होगा हो है ना एक साधु रहते थे जंगल में एक शिष्य भी सेवा में रहते थे तो गांव से आता था दूध तो एक भक्त ने आके कहा कि महाराज ये गांव से रोज दूध लाना पड़ता है ये बड़ा झगड़ा है हम एक गाय लाते हैं आश्रम पर रख देंगे यही गाय चारा खा देगी यही दूध देगी यही गर्म हो जाएगा यही हाँ, हम पी लेंगे तो संत ने कहा कि अच्छी बात है तुम्हारी मौत बड़ी मौत अब गाय आ गई चारा आने लगा दूध रोज हाँ, दूध रोज होने लगा पीने लगे एक दिन महाराज रात को गुरु चेला दोनों सो गए तो चोर आया और गाय खोल के ले गया बछड़े को भी ले गया अब चेला जी उठे तो रोने लगे हाय हाय गाय चली गई बछड़ा चला गया जाके गुरु जी से कहा कि महाराज गाय की तो चोरी हो गई तो गुरु जी बोले है ना गुरु जी बोले कि हम्म, अरे भाई गाय गई तो उसको चराना गया बांधना गया पानी लाना गया है ना गीता का चाल गया खली का चाल गया हरी हरिभाग का चाल गया जो घर मुंह रोग होता था राम राम उसका गोबर पाकना पड़ता था फिर सब झगड़े छूटे गाय गई तो झगड़े ही गया बोले आई तब तो बड़ी मौज थी है अरे भाई आई तब बुद्ध की मौज थी और गई तो उन्नत के टूटने का मजा मौज है है ना दोनों में मजे ही मजा है ये सृष्टि जो है और एक दिन एक सज्जन आए हो तो मैंने पूछा कहो मौज में हो तो बोले कि क्या कहें स्वामी जी मौज से तो मर गई ऐसे बोले हो हाँ, गृहस्थ है बोले मौत तो स्वामी जी मर गए नहीं यहाँ बैठे नहीं अच्छा, मर गए हाँ। तो मैंने कहा कि भाई साधुओं में ये रिवाज है कि जब कोई मर जाता है तो घंटा घड़ियाल बजाते हुए उसको स्मशान ले जाते हैं है ना हम कीर्तन करते हैं नाचते हैं गाते हैं उत्सव मनाते हैं अगर तुम्हारी मौज मर गई तो फिर करो है ना बजाओ घंटा घड़ियाल बनाओ उत्सव की मौज मर गई मौज मर गई मौज मर गई है ना अब वो तो हंसने लगे हंसने लगे तो थोड़ी देर में बोले तो जी गई थी <laughs> तो ये दुनियादार लोग जो हैं वो दिन भर में बीस बार अपनी मौज को मारते हैं और अपनी मौज को गिराते हैं ये जो मूड के दस में हो जाएगा मूड के दस में उसकी कोई जिंदगी है, है? अब मूड है और अब मूड नहीं है कि जब ये तुम जान लोगे ये संपूर्ण विश्व प्रपंच परमेश्वर का शरीर है और ये ग्यारह इंद्रियों वाला ग्यारह छिद्रों वाला ये शरीर मेरा शरीर है और ये शरीर और वो शरीर दोनों की स्थूलता से अलग करके देखें तो आत्मा और परमात्मा एक है और एक अखंड वस्तु में सदन अन्यत्व आरंभन सबदा विधि अरे प्रपंच नाम की कोई वस्तु ही नहीं है तो तब ने सूचती अब काहे का सोच है इधर यो ही वाह वाह है इधर यो ही वाह वाह है जिधर देखे उधर परमात्मा ही परमात्मा है अनुष्ठायन चेतते विमुक्त विमुच्यते अनुष्ठाय का अर्थ मेरे थोड़ा अपने आप को दृश्य से जुड़ा करो ये कार्य कारण जो है ना ये भी झूठा है वो दृश्य में कार्य कारण होता है अच्छा घड़ा कार्य का कोई कारण नहीं दृश्य में कोई कार्य नहीं दृश्य का कोई कर्ता नहीं तो तीनों बात कट जाएगी बोला क्या क्या दृश्य मुझसे न्यारा है कोई दूसरा दृष्टा मुझसे न्यारा है है ना और कोई दृश्य का बनाने वाला मुझसे न्यारा है इसलिए वेदांति लोग दृश्य के बाद पर ज्यादा जोर देते हैं है ना प्रपंच के बाद पर जो प्रपंच के बाद पर जोर नहीं देता ना हाँ, वो जोगी हो सकता है वो सांख्यवादी हो सकता है है ना वो जैन मतावलंबी साधक हो सकता है द्वैतवादी है ना सब हाँ, जैन मत भी द्वैतवादी है वो है ना और सांख्य मत भी द्वैतवादी है और जोग मत भी द्वैतवादी है तो वो द्वैतवादी मतवादी हो सकते हैं परंतु वेदांत जो है ना अद्वैत वेदांत मौलम तो उसमें <clears throat> प्रपंच का जे बाध हो करके ब्रह्म से एक होना तो देखो ये बात वेदांत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि तत्व ज्ञान होने पर प्रपंच का बाद हो जाता है इसका मतलब हुआ कि प्रपंच अज्ञान से ही सिद्ध है जो चीज अज्ञान से सिद्ध होती है वो वस्तुता नहीं होती है और जो ज्ञान से निवृत्त होती है तो वो भी वस्तुता नहीं होती है तो श्रुति वेदांत का ये कहना है कि ये प्रपंच अज्ञान से सिद्ध है और ज्ञान से निवृत्त होता है ये बंधन और मोक्ष दोनों अज्ञान से सिद्ध है और ज्ञान से निवृत्त होते हैं भागवत में जहाँ सन्यासी प्रातः काल उठ करके क्या विचार करे तो आया है ना आप देखना ये दो जगह है सातवें स्कंध में जहाँ नारद ने प्रहलाद को नारद ने युधिष्ठिर को आश्रम धर्म का उपदेश किया श्री कृष्ण ने उद्धव को आश्रम धर्म का उपदेश दिया वहाँ सन्यासी प्रातः काल ब्राह्मण मुहूर्त दोत्थाय क्या चिंतन करे बोले पश्यन बंधम च मोक्षम च माया मात्र न वस्तु ये देखे कि ये जो ख्याल है कि हम बध गए हैं सृष्टि में है ना इस चेला चेली के बिना नहीं रह सकते तो ये झूठा है इस सेवक स्वामी के बिना नहीं रह सकते का झूठा है इस कुटिया के बिना नहीं रह सकते का झूठा है का इस शरीर के बिना नहीं रह सकते झूठी बात है पश्चिम बंधम च मोक्षम च है इससे कभी मोक्ष होगा पहले मोक्ष है मोक्ष तुम्हारा स्वरूप है अज्ञान से बंधन है और ज्ञान से मुक्ति होती है इसका अर्थ हुआ कि मुक्ति अपना स्वरूप है और अज्ञान से जो चीज मालूम पड़ती है सो झूठी और ज्ञान से जो निवृत्त जो प्राप्त होती है सो झूठी पहले से प्राप्त है वो तो ज्ञान से जो मिलती है वो तो पहले से मिली हुई रहती है तो अज्ञान से बंध मिला हुआ है और ज्ञान से मोक्ष मिलता है इसका अर्थ हुआ कि दंड भी झूठा और मोक्ष भी झूठा अपना आत्मा न किसी से बंधा हुआ है और न तो ये कहीं मुक्त होता है श्रीमद भागवत में इसकी व्याख्या आई अज्ञान संज्ञ बंध मोक्ष गौ राम नाम यौस्त ऋतज्ञ भावा अरे बाबा तुम्हारा भाव हो तो बंधे हुए हो उसका मजा लो और तुम्हारा भाव हो तो तुम मुक्त हो मुक्ति का मजा लो और वस्तुतः अगर तत्वता देखना हो तो ये बंधन और मोक्ष दोनों भाव ही है और अज्ञान संज्ञ भव बंध मोक्ष जौना मनान्य स्तरित श्रीमद भागवत ने ये बताया कि अज्ञान ही अज्ञान के दो नाम हैं एक संसार में बंधन और एक संसार में मोक्ष ये अज्ञान के दो नाम है जो उना मना नियु स्तरित भाव यथार्थविद आत्मविद ब्रह्मविद जो पुरुष है उसके भाव के सिवाय न बंधन है और न तो मोक्ष है अब कहो कि बंधन और मोक्ष तो नहीं है परंतु मैं शरीर हूँ है ना अगर ऐसे सोचोगे है <laughs> ना ऐसे सोचोगे तो उल्टा हो जाएगा वो पश्यन बंधन च मोक्षं च माया मात्र न वस्तुतः तो अनुष्ठान सोचते जहाँ ये ध्यान हुआ ये ज्ञान हुआ एक बात और आपको सुना <clears throat> ज्ञान के बाद ध्यान ये बात विशिष्टाद्वैत संप्रदाय द्वैत संप्रदाय द्वैताद्वैत संप्रदाय विशुद्धाद्वैत संप्रदाय मान शैव शास्त्र गणपत्य सौर वैष्णव ये मानते हैं ज्ञान के बाद ध्यान है ना परंतु अद्वैत वेदांत में ज्ञान के बाद ध्यान नहीं माना जाता ये कि ज्ञान तो प्रमेय का प्रत्यक्ष है जैसे घड़ी को घड़ी पहचान लिया तो अब घड़ी का ध्यान करना जरूरी नहीं है कैसी प्रकार अपने को परमात्मा के रूप में जब पहचान लिया तो ये सत्य है इसका साक्षात्कार होता है है ना ज्ञान ध्यान का अंग नहीं है तो इसकी क्या बात है कि हमने जाना कि स्वर्ग में एक इंद्र रहते हैं वैकुंठ में एक नारायण रहते हैं और गोलोक में राधा कृष्ण रहते हैं साकेत में सीताराम रहते हैं वो तो दूसरी जगह रहते हैं ना कोई साकेत में कोई गोलोक में कोई वैकुंठ कोई स्वर्ग में तो, कोई कैलाश में गौरी शंकर रहते हैं तो आंख बंद करके उनका ध्यान करना पड़ता है क्यों बोले वो हमसे दूर हैं या दूसरे काल में हुए हैं या परोक्ष हैं है ना या अन्य हैं और द्वैत वेदांत की रीति से यही जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है देश का साक्षी होने से आत्मा परिपूर्ण है वो देश पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे जिसमें कल्पित है उस देश का जो है ना उस देश का प्रकाशक जो अधिष्ठान है प्रकाशक अधिष्ठान है है ना देश तो उसके एक अंश एक कल्पित अंश में झूठा कल्पित है नारायण अच्छा काल तो वो काल की जो भूत भविष्य वर्तमान रूप जो काल है इस काल की कल्पना का जो अधिष्ठान और प्रकाशक है है ना वो अविनाशी है अविनाशी और कार्य कारण रूप जो प्रपंच दिखाई पड़ता है उसका जो प्रकाशक अधिष्ठान है तो ब्रह्म है परिपूर्ण है उसको तो अद्वितीय है तो ये जो अद्वितीय ब्रह्म है नारायण ये भगवान ऐसा विलक्षण है ऐसा विलक्षण है कि दुनियादारों की नजर तो यहाँ तक जो किसी भी परिच्छिन्न वस्तु को पकड़ के बैठा है बोले तो मेरी आत्मा कैसा आत्मा तुम्हारी तो तुम कौन बोले मैं शरीर बिल्कुल यही निकलेगा जब तुम कहते हो मेरी आत्मा तब मैं माने अड्डी मानस शाम का पुतला होता है मैं मैं मैं क्या होता है अनुष्ठान सूचती का अपने से अन्य जब कोई वस्तु होगी ना तो उसको जानने के बाद आंख से देखने के लिए या हाथ से पकड़ने के लिए या मन से तादाद में आपन्न होने के लिए मन से ध्यान करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा जब अपने से चीज दूसरी होगी तब उसको जाना जान के हाथ से पकड़ो या पांव से चल के उसके पास जाओ या आंख से उसको देखो या मन से उसका ध्यान करो और उससे एक लेकिन जब अपने आप को ही जाना तो हाथ से पकड़ोगे कि आंख से देखोगे कि मन से ध्यान करोगे तो जब तक अन्यता की भ्रांति बनी रहती है तब तक शारीरिक या मानसिक कर्तव्य ज्ञान के बाद भागते हैं यही तो हुआ ना शंकराचार्य भगवान ने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा तो सुरेश्वराचार्य ने कहा कि हम इस पर वार्तिक लिखेंगे वेदांता वार्तिकावधि कहते हैं वेदांत वार्तिक तक ही है वो भाष्य शंकराचार्य का सूत्र व्यास का भाष्य शंकर का और वार्तिक सुरेश्वराचार्य का का उसके बाद जो वेदांत के ग्रंथ लिखे गए बोले उनके कवि खद्योत सम जहता कर प्रकाश है ना <laughs> तो अब के कभी खद्योत्सम वो कार्तिक कार जब कार्तिक बनाने को तैयार हुए तो हस्ता मलक आदि जो थे ना पद्म पादाचार हस्ता मलका चार जो बोले करे ये तो सबसे बड़ा वो जय शंकराचार्य के पास बोले कि महाराज ये कुमारिल भट्ट का शिष्य है कर्मकांडी ये जब कार्तिक लिखेगा तो आपके शुद्ध भाष्य में कहीं न कहीं कर्म की तप लगा देगा जो देगा कर्म उपासना जोग का कोई न कोई संबंध ये जोड़े बिना रहेगा नहीं क्योंकि कर्तापन का संस्कार इसका बड़ा प्रबल है कर्तापन का संस्कार बड़ा प्रबल है और आदमी को जैसा संस्कार होता है ना और दुकान दो हजार लोग जब साधु होते हैं तो साधु होके भी दुकान तो लगाते ही हैं साधु होने के बाद भी हमने देखा है है ना दुकान का हिसाब दुकान का हिसाब लगाते दूध का हिसाब लगाते हो तो होता ही है हाँ, तो वो दुकानदारी का जो जैसा स्वभाव बचपन से पड़ा रहता है वही छूटता है वो कहते हैं ना कि चोरी छूटी तो छूटी पर तुम्बा चोरी नहीं छूटी है ना तुम्बा फेरी कर रहे हैं तो ये जिन लोगों को संस्कार है ना संसार का वो कर्मार्थ में भी घुसेर देते हैं है इसको कर्म का संस्कार है ये सुरेश्वराचार्य तो शंकराचार्य ने कहा कि देखो भाई तुम वार्तिक तो बाद में लिखना उसके पहले वेदांत का सार बताने के लिए एक ग्रंथ लिखो उसको हम देखेंगे कि वेदांत का सार तुमको ठीक ठीक बुद्धियारूढ़ हो गया है कि नहीं है? तब सुरेश्वराचार्य ने नैष्कर्म सिद्धि लिखी किंतु बोध परीक्षार्थम आत्मदिन निकषा स्मसु उन्होंने लिखा ही है कि मैं ये पुस्तक इसलिए लिख रहा हूँ कि संसार के जो तत्व ज्ञानी लोग हैं वो कसौटी हैं और इस मेरे सोने की परीक्षा करें कि सोना सो रहे आने सच्चा है कि नहीं है ज्ञान की परीक्षा करके देखें तो उसमें इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया ज्ञान की उत्पत्ति में से कर्म सहयोगी होता है परंतु ज्ञान की उत्पत्ति होने के बाद है ना कर्तापन कर्म वासना कर्म संस्कार तो ये नहीं समझना कि हाथड़ी से काम होता है बोला मन से जो अंतर्मुख होना बहिर्मुख होना जो कर्म है वो भी कर्तापन से ही होता है जो प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान करके मन को अंतर्मुख खींचते हैं और समाधिस्थ करते हैं और वो जोर से लगाई हुई समाधि बाद में चिपक जाती है जैसे हाथ में जोर लगा के ढेला फेंकते हैं ना आसमान में तो जितना जोर होगा हाथ में उतना ऊपर ढेला जाएगा और फिर धरती पर गिरेगा इसी प्रकार कर्ता फल के फन के प्रबल प्रयत्न से कर्ता के प्रबल प्रयत्न से मन रूप ढेला अंतर्मुखता की ओर जाता है, है? और जहाँ वेग क्षीण हो जाता है वहाँ वो फिर नीचे गिर पड़ता है समाधि में जाता है व्यवहार में आता है व्यवहार में आता है समाधि में जाता है ये तो कर्तापण का व्यवहार है तो ये तत्व ज्ञान जो है नारायण वो अंतर देश में रहता हो बहिर्देश में नहीं ऐसा नहीं बहिर बहिर्देश उसमें बिना हुए मिथ्या भाग रहे आपको एक वर्तमान की बात सुनाता हूँ और आप बता सकते हैं कि वर्तमान क्या होता है ये चुनौती है आपको नहीं आपके सारे वैज्ञानिक संसार को हाँ, वेदांत कोई प्राचीन काल की वस्तु नहीं होती है वो सत्य वस्तु होती है है ना ये नहीं कि पुराने समय में ऐसा होता था अच्छा आप बताओ वर्तमान काल क्या होता है बोले भाई कल का दिन बीत गया झूठ हो गया और कल का दिन आने वाला है और आज का दिन वर्तमान है बोले आज के दिन में आज के दिन में महाराज क्या नाम है सवा आठ बज गए सवा आठ घंटे आज के दिन में बीत गए और बाकी अभी आने वाले हैं एक मिनट वर्तमान है बोले एक मिनट में पच्चीस सेकंड बीत गए और 35 सेकेंड अभी बाकी हैं वर्तमान सेकेंड सेकेंड वर्तमान है करे एक सेकेंड का तो मशीन से गणित पूछ लो ना है ना और अब इससे कर दो एक एक एक सेकेंड के है ना एक सेकेंड बचा है ना एक अरब ऐसे करो तो कितना बीत गया कितना बाकी है ये वर्तमान जो है ये भ्रांति हो भूत और भविष्य के मिश्रण की जो भ्रांति है ना संधि की जो भ्रांति है उसको वर्तमान बोलते हैं और जहाँ वर्तमान ही सिद्ध नहीं हुआ वहाँ बीता क्या और आवेगा क्या तो बोले इसी सेकेंड में रहो इसी मिनट में रहो इसी दिन में रहो न तुम काल का ध्यान काल के कल्पित अवयव का ध्यान करने के लिए अवतीर्ण हुए हो है? एक तो पहले काल की कल्पना की अपने में और फिर काल में मिथ्या अवयव की कल्पना की भूत भविष्य वर्तमान की और भूत भविष्य वर्तमान के मिथ्या अवयव में है बोले अब हम सीख रहे हैं जहाँ तुम सीख रहे हो वही मिथ्या है तो जो तुम सीखोगे वो क्या सच्चा निकलेगा और काल तो दृश्य है काल तो मन की कलना है काल तो पूर्णा है काल में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कल्पित हैं काल में मध्य नहीं काल में संधि नहीं काल में टिकोगे कैसे गंगा जी बह रही है और तुम उसके एक बबूले में टिक रहे हो है ना गंगा जी बह रही है और बबूले में टिक रहे हो असल में ये देह में मैं मानने का परिणाम है देह में मैं मानने का परिणाम है तो कहने का अभिप्राय क्या है <clears throat> ये देश जिसमें भाग रहा है देश माने लंबाई चौड़ाई समग्र और काल माने भूत भविष्य वर्तमान जिसमें बिना हुए भाग रहा है भूत भविष्य वर्तमान होता नहीं हो क्योंकि भूत की आदि नहीं है और भविष्य का अंत नहीं है और दोनों के बीच में वर्तमान नाम की कोई वस्तु नहीं है है ना देश में कोई अंतर देश और कोई बहिर्देश और कोई अंतराल देश नहीं है और वस्तु में कोई कार्य कारण भाव नहीं है तो कार्य कारण भाव रहित कल्पित वस्तु में स्थित होना कार्य कारण कारण कारण में कर्ता और उपादान दोनों न निमित्त कारण न उपादान कारण न करण और न काल तो नारायण द्रव्य में न कारण न करण न कार्य और न काल में भूत भविष्य वर्तमान न देश में अंतरदेश बहिर्देश अंतराल देश तब ये जिस कल्पना में भाग रहे हैं वो कल्पना काल का अधिष्ठान होने से अविनाशी हाँ, तो वो देश का अधिष्ठान होने से परिपूर्ण वो द्रव्य का अधिष्ठान होने से अद्वय हाँ, अद्वय और स्वरूप होने से चैतन्य हाँ, जो स्वयं स्वरूप होने से स्वरूप होने से चैतन्य ऐसा जो अविनाशी परिपूर्ण अद्वय अखंड चैतन्य है ये तुम्हारा सिद्ध स्वरूप है ज्ञानिक नहीं है ज्ञानिक तो तुम्हारा बेटा है ये जो तुम कहते हो ये मेरी ननद और ये मेरी नानी और ये मेरा बेटा ये क्या है तो ये ज्ञानिक है बोला और हाँ, ये तुमने ख्याल कर करके बनाया है मनु जी कहते हैं सर्वम ध्यानिक देवास्यो यदे तदधिशाब्दिका इंद्र ध्यानिक है इंद्र ध्यानिक है गोलोक ध्यानिक है साकेत ध्यानिक है मतलब ये ध्यानिक है तुम्हारा ब्रह्मपना ध्यानिक नहीं है है ना तुम्हारा अनंतपना ध्यानिक नहीं है वो सिद्ध वस्तु है इसलिए यदि तुम्हारे मन में एक बार अपने ब्रह्मपने का ज्ञान होकर अज्ञान निवृत्त हो जाए और उसके बाद कभी ब्रह्मपने का ख्याल न हो पागल हो जाए दिमाग कभी ब्रह्मपने का ख्याल न हो तब भी मुक्ति में कोई बाधा नहीं है ये स्थिति इतना सोचते विमुक्त विमुच्यते जो बद्ध है सो मुक्त नहीं होता जो मुक्त है वही मुक्त होता है विमुक्त विमुच्यते का मुक्त है और मुक्त होता है ये क्या बात वेदांत की बात तो ऐसी होती है तो, तो हम घर गृहस्थी की बात भी थोड़ी रहे हैं कोई हाँ। ये नहीं समझना कि पति पत्नी को परस्पर कैसा व्यवहार करना चाहिए है ना मुस्कुरा के बोलना चाहिए और पत्नी की इच्छा पूरी करनी चाहिए वो हमको मालूम न हो तो बात नहीं है ना हाँ। हाँ। संध्या बंधन कैसे किया जाता है हाथ में लेके जल मार्जन कैसे होता है आपको रिश्ता में योग हुआ हमको आता है बोला है ना नाक पहले बाई दबाना कि दाहिनी दबाना प्राणायाम कैसे करना वो हमको मालूम है बोला हमने गोबर की गौरी और सुपारी का गणेश बना के है ना हजारों यज्ञों पबीत विवाह सत्यनारायण दुर्गा के पाठ किए हो है ना हमको तो अध्यारोप अपवाद का सिद्धांत मालूम है और आप लोग आंख बंद करके जो ध्यान करते हो ना अपने ध्यान में जो परमेश्वर बनाते हो कि स्वयं परमेश्वर बनते हो <laughs> तो इस नानी के आगे ननियवरे का बखान बोला <laughs> ध्यान आंख बंद करके ध्यान लगा के खुद परमेश्वर बनते हो है ना या दूसरे को बनाते हो <laughs> बहुत दिन बहुत दिन परमेश्वर को बना चुके अब परमेश्वर को बनाना छोड़ो बोला और अपने को बनाना भी कोई बुद्धिमानी नहीं है बोला लोग दूसरे को तो बनाते भी हैं अपने को तो कोई नहीं बनाता है, है? आप तो अपने को भी बनाते हो दूसरे को भी बनाते हो है ना ये बनाने बिगाड़ने की ये बनाने बिगाड़ने की चीज नहीं है ये प्रमाण सिद्ध वस्तु है प्रमाण सिद्ध वस्तु का अर्थ है कि जो चीज जैसी है वैसी है तो एक बार मुक्ति की चर्चा चले तो एक ने कहा एक क्रम मुक्ति होती है पहले यहाँ से ब्रह्मलोक में जाओ है? और वहाँ फिर अपनी उपासना के जो फल हैं उनका भोग करो और उसके बाद ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाओ ये क्रम मुक्ति है वो हाँ। तो बोले एक मुक्ति होती है सालोक्य जिस लोक में अपना इष्टदेव रहता है उसकी प्रजा होना अपने प्यारे के राज्य में प्रजा होना सालोक्य हाँ। सामीक्य उसका देवर हो जाना बनमाला बन जाना तो ये सारू की मुक्ति है हाँ। एक एक एक तो सारूप्य वैसी वेशभूषा धारण करके वितरण करना सारूप में मुक्ति है सायुज्य का उसमें मिल जाना जैसे दूध पानी एक में मिल गए वैसे ईश्वर में जीव और जीव में ईश्वर मिल गया सायुज मुक्ति हो गई बोले तो एक एक सद्यो मुक्ति होती है देखो का एक बोले जीवन मुक्ति होती है का एक विधेय मुक्ति होती है बोले हे भेद के संस्कारी जीव है ना तू मुक्ति को क्यों गंदी बना रहा है बोला ये तेरे मन में भेद के संस्कार हैं तो मुक्ति में भेद की कल्पना क्यों कर रहा है मुक्ति योग हाँ, में मुक्ति मानते हैं चित्त का निरोध हो गया दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थान हो गया अन्यता की खास जाति हो गई कई वल्य की प्राप्ति हो गई सांख्य में मुक्ति मानते हैं विवेक की ख्याति हो गई और हम दृश्य से न्याय दृष्टा हैं दृष्टा भले हजार हों उनसे हमारा कोई मतलब नहीं हम मुक्त हो गए शैव शाक्त आदि मानते हैं कि हमारे इष्ट देव से एकता हो गई मुक्ति हो गई पीतल की पूजा से मुक्ति लेकर के है ना हिरण गर्भ की उपासना पर्यंत मुक्ति मानने वालों के मतभेद होते हैं हाँ। अद्वैत वेदांत इन सब झगड़ों का बखेड़ों का वर्णन नहीं करता है अद्वैत वेदांत ये कहता है कि आत्मा सहज ज्ञान स्वरूप है अविनाशी है परिपूर्ण है अद्वय है उसमें बंधन का कोई निमित्त ही नहीं है कोई ऐसी रक्षी नहीं है जब दूसरा कोई है ही नहीं बंधने के लिए छोटी चीज चाहिए तो बंधेगी और बांधने वाली दूसरी चीज चाहिए एक देश में बंधेगी है ना एक काल में बंधेगी एक चीज से बंधेगी एक कल्पना से बंधेगी तो असल में ये किसी देश में रहने से देह में आने से तुम बधे नहीं हो और हाँ। हाँ, देह में मैं करने से भी बंधे नहीं हो हाँ, जितने दे काल तक देह है उतने काल तक भी बंधे हुए नहीं हो नहीं तो देह में अगर कोई बंधा होता तो खुदकुशी कर सकता बंधन तो बिल्कुल अज्ञान का है अपने स्वरूप को न जानने ही बंधन है अविद्या ही वो बंधा हाँ, अविद्या बंधा नहीं अविद्या से बंधन पैदा हुआ है तो बात नहीं बंधन की माँ का नाम अविद्या नहीं है बोला अविद्या ही बंधन है अपने आप को न जानना यही सबसे बड़ा बंधन है और मुक्ति क्या है क्या अपने आप को जानने मुक्ति है विद्या से मुक्ति होती नहीं पहले से मौजूद जो मुक्ति है है ना उस मुक्ति के जानने में जो अड़चन थी वो निवृत्त हो जाती है प्रतिबंध निवृत्ति होती है इसको मुक्ति बोलते हैं तो हे नारायण तो विमुक्त जब मुख्य जो पहले से विमुक्त है वही मुक्त होता है माने बंधन की केवल भ्रांति ही दूर होती है मुक्ति नाम की कोई अवस्था उत्पन्न नहीं होती जो जहाँ बधा है वो वहाँ बधा है जो खुला है और बंधे से बंधा खुला से खुदा है? अपने आप को बंधन मान लिया तो बंधन एक पागल को ये ख्याल हो गया कि हमारे दोनों हाथ को किसी ने बांध दिया अब दोनों हाथ सटाए रखे और घर गए देखो हमको बांध दिया है है ना हमको कोई खोलता नहीं है हमको कोई खोल है नहीं बंधन नहीं है नहीं हमको बांध तुमको दिखाई नहीं पड़ता हम तो बंधे हुए हैं तो उसका बंधन कहाँ है हाथ में है हाथ में बंधन है ये दिमाग में बंधन है है ना तो इसी प्रकार ये आत्मा जो है ये आत्मा में बंधा हुआ नहीं है वो आत्मा को दिखाते फिरो नाड़ी पकड़ाते फिरो ऐसे आत्मा में बंधन है आत्मा में बंधन है आत्मा में बंधन है हाँ। ये बात जरूर है कि झूठ मूठ किसी बंधन को बंधन का भ्रम हो जाए ना अब देखो भाई दादा तो यहाँ बैठा है जरा कभी कभी चिड़ भी जाता है है ना लेकिन इसकी एक बात सुनाता हूँ तो, इसको एक बार ऐसा काल हो गया कि हमारा लीवर जो है वो खराब हो गया है तो अब आपको क्या बताऊं बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं उनकी दवा हुई सिविल सर्जन की दवा हुई अच्छा ही ना हुए तो नहीं अच्छा इसलिए भी न हो कि लोग कह दें कि है ही नहीं लीवर तुम्हारे बोले नहीं है हाँ। पदमपत सिंघानिया गए थे फ्रांस वहां से लीवर की बहुत बढ़िया दवा ले आए तो वो भी खाई तब अच्छा नहीं हुआ महाराज लोगों ने मूली खिलाई दही खिलाया अच्छा ही ना हो एक डॉक्टर है उसका नाम श्री वास्तव है बहुत कर माथुर माथुर डॉक्टर है वो असिस्टेंट सर्जन था मथुरा में तो वो हमारे पास सत्संग करने को आया था है ना आता था हर तीसरे दिन करीब करीब वो आता था अस्पताल से तो उसने इनका देखा देखा और फिर दवा देना शुरू कर दिया और बोला कि तीन महीने के भीतर अगर मिटा न दे तुम्हारा ली तो कितना अब वो महाराज उसकी दवाई पीने लगे पीने लगे थोड़ा कम हुआ दस दिन में थोड़ा कम हुआ दस दिन में थोड़ा कम हुआ वो बताता जाता था फायदा हो रहा है फायदा हो रहा है दो तीन महीने में बिल्कुल टन ठीक हो तो उसके बाद उसका हो गया तबादला वो चला गया गोरखपुर तो मैं जब बाद में गोरखपुर गया ना ये भागवत का प्रकाशन जब हुआ ये दोबारा संशोधित रूप में वहाँ वो आता था वहाँ भी सत्संग करने को आता था तो एक दिन उसने <laughs> बताया कि स्वामी जी मैं आपसे बिल्कुल सच्ची बात बताता हूँ दादा को लीवर बिल्कुल नहीं था है ना मैंने तो पानी ताकत है ना ताकत की दवा मिला के और केवल पानी देता रहा दादा को और ये विश्वास कराता रहा कि तुम्हारा लीवर ठीक हो रहा है हो रहा है और ठीक हो गया तो ऐसे ये जो बद्ध पने का भ्रम है ना इसमें इतना अंतकरण शुद्ध करो तब तुम मुक्त होगे इतनी उपासना करो तब तुम मुक्त होगे इतना योग करो तब मुक्त होगे इतना ध्यान करो तब मुक्त होगे है ना असल में बंधन अपने स्वरूप में है नहीं मानी मानी बंधन में आयो हाँ। अपन तो आप नहीं बिसरो ये अपना जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है एक संसारी नहीं हजार संसारी और एक साधु नहीं हजार साधु बुढ़िया बाबा जी महाराज कभी कभी कहते थे कि अरे ब्रह्मा आके खड़ा हो जाए और कह दे कि तुम परिच्छिन्न हो और तुम बद्ध हो तो ब्रह्मा के कहने की कोई कीमत है, है? ब्रह्मा तो हमारी खुरना में हमारी खुरना में हमारी कल्पना में पैदा होकर हमारी कल्पना ही ब्रह्मा के मुंह से बोलती है ब्रह्मा कोई अपने आप स्वतंत्र तो ही बोलता है तो ब्रह्मा भी आके कह दे कि तू बद्ध है और तू परिच्छिन्न है तो क्या उसके कहने की कोई कीमत है, है? तो जो पहले से मुक्त है वही ज्ञान से मुक्त होता है वस्तुतः एतदवड़ी तक एक अपरोक्षम ये जो अपरोक्ष घड़ी के समान प्रत्यक्ष नहीं है बना और स्वर्ग आदि के समान परोक्ष नहीं है जो प्रत्यक्ष घड़ी को देख रहा है हाथ से और जो परोक्ष स्वर्ग की कल्पना कर रहा है मन से ये जो आंख से देखने वाला और कल्पना करने वाला जो अपना मैं है नहीं पद भाई है इस कल्पना से उपहित इस कल्पना का प्रकाशक जो अधिष्ठान है आत्मा है ये कौन है बोले तत् तत् ब्रह्म है ना यही ब्रह्म है यही परमात्मा का स्वरूप है अगर ये तुमको परमात्मा नहीं दिखता तो किसको तुम परमात्मा देखोगे अच्छा अभी तो। अब फिर तो- हाँ,